कलेजे में धुआं धुआं सर्दियों का अलाव कलेजे में धुआं धुआं सर्दियों का अलाव पलकों में चौथ का चांद हो जी में हो कोहरे से नहाई कांची कांची धो कलेजे में धुआं धुआं सर्दियों का अलाव पलकों में चौथ का चांद हो जी में हो कोहरे से नहाई कांची कांची धूप हवा में उड़ती बिखरती मार्च की मदमाती महीन गंध जी में हो कोहरे से नहाई कांची कांची धूप हवा में उड़ती बिखरती मार्च की मदमाती महीन गंध गले में हों सोहनी के उनीदे सुर गले में हों सोहनी के उनीदे सुर तबीयत ज़रा ज़रा गलहरी सी गले में हों सोहनी के उनीदे सुर तबीयत ज़रा ज़रा गिलहरी सी मन में जलते बुझते मोर पंख रहे मन में जलते बुझते मोर पंख रहे होठों पर व्याकुल हो मौन और कानों में पहरों बाद और कानों में पहरों बाद एक अदद तुम्हारी हूँ इतना बस इतना इतना बस इतना जो सिमट आए किसी रोज मेरे अंतस तो रंग डालूं एक लैंडस्केप खाली कैनवास पर मैं भी कलीजे में धुआं धुआं सर्दियों का आलाप